सखी खान जी अब मैं कुछ बात पूछ जे थे जवाब देता जाए हम्म। सुबह ही सुबह थे की रागों गावनो शुरू करो उन पचे की की टाइम पे केड़ी केड़ी रागा गाता जाओ ये थोड़ी बताओ देखो सुबह तो सुबह ही करोगे हम्म। सुबह ही राग करके उनके ऊपर वो लहरों बजाओ बना उनकी धुन बजाओ हम्म। उनके पीछे बिलावल बिलावल करके उनके ऊपर बोला वो हर जैसे कानून का हो दूसरा का हो वो उनके राग है अब से तोड़ी तोड़ी राग है तोड़ी रे पहला आशा गाओ या हाँ पहला तो आशा तो सिंध झार बल जब करो उनकी टाइम नहीं हम्म। और तोड़ी राग है उनके पीछे धानी है उनके पीछे आशा करो पैरवी करो हम्म। जो करो उनकी टाइम हमेशा हुई है हम्म। उनके ऊपर क्या होती है कि शुभ वो रागी में भैरवी के पीछे शुभ आती है हम्म। शुभ राग होती है और शुभ राग होकर उनके पीछे आती है सामीरी समीरी हम्म। राग करके पीछे उनकी बात सोरठ के था तो। हम्म। कल्याण कद गाओ तो कल्याण तो पहले शाम को होगी कल्याण शाम को जहाँ दिन हुआ है फिर रात आ गई रात रात गाँव रात पहले कल्याण शाम कल्याण पहले श्याम कलिया हम्म। उनके ऊपर सोरठ हम्म। उनके ऊपर सामेरी हम्म। और उनके ऊपर बैर जरा लड़ जाओ फिर फिर सुबह आ जाओ फिर पाची सुबह आ जाओ उनके टाइम आ जाओ तो पहला जो आप लिखा है वो मैंने ये लिखा है कि पहला तो बिलावल का मां हाँ। पचा आशा का मां हाँ। पचे तोड़ी हाँ। पचे भैरवी ये तो सदर की पचे सोरठ सोरठ सोरठ दिन राजा पचे हाँ सोरठ पचे तो दिन राग पचे सोरठ आ जाओ और पचे सुबह सुबह सुबह रे पचे कल्याण करिया कल्याण हूँ सामेरी सामेरी बस और सामेरी हूँ पाछा पाछे बड़े बढ़ सागे चलो जाओ हम्म, પછી સૂપી કે પાછી આગી તો सूप पाछे। ટાઈમ आ, ટાઈમ રાગે તે अच्छा यहाँ सब रागा रे मायने दुआ गाई छे सब में दुआ अच्छा यहाँ रे अलावा और की रागा आप बजाओ इन अलावा जो कोई लाग रो है जो कोई उनका सूप रो सूप रो गा दो राजन गाओ रडमल गाओ रतनाड़ो गाओ ये गा दो और सोरठ में भलाई बाड़ोचन गाओ अलाड़ी गाओ मणियारो गाओ जो कोई राई को गाओ वो चल जाओ उन्हें लाग रो मुमल गाओ सूरत में राई को गायो राई को मुमल सूरत में आप मुमल गायो हाँ और सूरत में को बालूचण भी गाई जा हाँ बालूचण गा जाओ और लाग लाग की करते है करो लाग की री गीत री लाग की राग लाग के बालूचण हम्म। और समीरी हम्म। इनमें गीत सारा सोट लारे सभी सारा लाग में तो सामेरी इन सोरठ में कई फर्क है देखा आप बजान थोड़ा बताओ तो પહેલાં સોરઠ કરજો ये सोरठ करी देखो आप सामेरी करो समीर दुआ देन राई को बजाओ देखो अब समीर दियो बार हाँ। अब दें राई को राई को बजाओ बालोचन वजह से आमेर पे लाग तो बालोचंडी दिखे रायकारी नहीं दिखे हां बालोचंडी ठीक है लेकिन सामने राई राई को तो शॉर्ट रे लारी लगे उतने तो मुमल राई को एक शॉर्ट रे है तो हाँ। और तो गांव पहले बते गीत सारे ये तो गांव में तो बस बैरवी टेको के नहीं मायने वाला टेको जो को बस यूं तो हाँ। मर्जी आवे जो तो मर्जी आवे को जो कहो पर इन्नो गीत कहिएगा बाड़ूचण है हाँ। बाड़ूचण जो खेरो है और उनके ऊपर बस तोनियों गाओ जलाल खान गाओ मतलब सामेरी पे लाग यारी है सामेरी सामेरी पे राई को तो साथे कुंज जावे हम्म, हम्म। राई को तो नहीं आवे सोरठ ले ला रहे हुए हम्म। सोरठ में सोरठ है सामेरी में और राई को तो अच्छा सोरठ में किए किए गीता री लाग है सोरठ में लाग पहली तो बालू चंद लागी जावे बालू चंद तो नहीं बैठे हाँ, सोरठ में सोरठ में नहीं बैठे तो तोरनी उठा जाओ हम्म तोरनी उठे सोरठ में हमने तो खेरो आ गई तो खेरो गीत उठा जाओ हाँ। अच्छा अब यूं बताओ कि बिलावल में जैसे कानो गायो आप हाँ, हाँ कानो बजाया अच्छा और बिलावल में क्या गीत आवे और बिलावल में गीत तो पचे मैं सुबह का गेट के रोई लाखों ही गा दूँ जलाल खान का गीत है जा जलाल गा दूँ हम्म। और वे पीछे में जलाल गावनी उनके दिन हर लाखों चढ़े लाखों में बचे होगा सारा हम्म। गीत यहाँ पीछे अब आशा में कहीं गाओ आशा में तो अब सामी गायो सामी गायो पचे जूना जोशी भी गाओ जूना जोशी गाओ और उन धुन जो कोई और को बजाओ बस और कोई गीत और इनमें गीत जो नहीं અચ્છા તોડી રમાઈને જતન ગાયો આપ લાખો લાખો ઓર લાખો કોક બિલાવલ સાથે ભી ગાઈ જાય ઉન ગાઈ જાય તોડી મેં ગાઈ જાય ઓર મણિયાર હા મણિયારો ગાઈ જાય જો કુછ ભૈરવી રમાઈને તો લહેરા બજાય ગીત કયો બજાવો એ રમાઈને આપ भैरवी में तो गीत तुम्हारा भैरवी कर में तो गज़ल जो है और गीत भले गाओ कोई तो भले अड़ो छोटो गीत अड़ो है भले क्यों वो गाँव बने था वो कच्छ भी बने था हम्म। कच्छ भी बना हुआ है हम्म। वो इनने पीछे आ जाओ अच्छा, सूरत में क्यों क्यों को आप राई को गए दिए हम्म। मुमल कर दिए और सूरत में मुमल राई को दो ही ये पक्का दो ये और हाँ। बिंजर और भी जो उनके ऊपर आगे सूरत के ऊपर की सामेरी आ गई सूरत में गीत किया किए गाओ सूरत में तो कर गा दो और राई को गा दो मुमल गा दो बाड़ो चणी गा दो और कड़ी गो क्यों रोएगा जो सुर के पीछे सारा गीत है अच्छा और सुबह में रेडमल सुबह में रेडमल रायदन रेडमल और रायदन और गीत क्यों हाँ, उनने पीछे और गीत अंजला हमारे और घणे गावे पीछे दुगाना गीत लखा हम्म। है और कल्याण रामायण कल्याण रामायण तो कल्याण कर उनने आप गीत तो मणिया हो जी हम्म। कल्याण ने पीछे हम्म। पहले का पर्सन मणियार अरे मणिया मणियार पीछे जरी गीत गाओ बनाए अपनी मर्जी वाली गीत गाओ चले जाओ धुन बजाओ बोले कहीं भी जाओ पहला आशा रदुओ दे तोड़ी रदुओ दे दो और फर्क समझाता था कहाँ हाँ, हाँ। के अट यहाँ आंगलिया में फ़र्क है हम्म। बजान थोड़ी रुक जाओ हम्म। जटे खास फर्क की जगह पे मन बता दो अच्छा કશી આમાંથી થોડી પાછી વધારે देखें आचार्य जो आप आचार्य मैंने बजाय स्वामी स्वामी में ये दो ही आंगलियां काम कर रहे हैं देखो कि कह रहे हैं सारी तो आ चीज ही है हम्म। पूरी लाग में आशा में ओ जाओ दूसरा गाओ भले कानू गा दो कहीं गा दो अर्जे लाखा बढ़िया हम्म। गा दो तो भले ही गाओ जिन मैंने आशा कर गई आशा राग इतने बिलावर से पैसे आशा आती अच्छा। इनके पीछे पचे पचे की बात छोड़ो अब हाँ। अच्छा अब बोलो तो तोड़ी तोड़ी की खास जगह कही है अच्छा तो बिलावल मतलब करो देखो कल्याण करो तुम चामेरी कर दो तेरी अब सामेरी रिसोरट करो तो